जनम के सुधार शरण रघुवर विमलयस भगवान चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब बन जी जय दुआ संख्या निन्यानवे के बाद निन्यानवे परप्रियनं तत् कपटशयानि गोविदो ममतालपटानि ते अभेदवादी ज्ञानी रेखा मैं चरित्र कल युग करे आप गए अरति हूँ घालई ये कहूँ सत मारग प्रतिपालई कल्प कल्प भरे कैत नरका रही यदि संस्कृत कर कर का धप तेली कुम्हारा कपच के रात कोल कलवारा नारिमुल ग्रह संपति नासी मूर मुराय हो ही सन्यासी देवी प्रनसन आप पूजा मई भय लोक निज हाथ न सावई जी लो लोलुप कामी निराचार सठ ब्रतुले स्वामी शूद्र करण जप तप व्रत नाना बरासन कहीं पुराना सब नर कल्पित करही अचारा न नीति अपारा भये वर्ण शंकर तले भिन्न से सब लोग पाप पावन दुख भैर दुसो कभी मुखि सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत गिरति विवेक कोई न कनई नर मोह बस कलप पंथयने आवरु रामचंद्र की जय परम आज स्नान करेंगे नीलगिर पर्वत पर कालभूषण गुरु जी को अपने पूर्वजन की कथा सुना रहे हैं जिसमें कि कलयुग आ गया था उस कल्प में तो उन्होंने कलयुग कैसा देखा तो बता रहे हैं कलयुग के कुछ लक्षण कैसे बता दिए मुख्य बात में शरीर में धर्म का उच्छेद हो जाता है जो शास्त्रों में वेदों में धर्म का निरूपण किया गया है कर्तव्य का भी जो व्यक्तियों को बताए गए हैं जो वे ऑफ लाइफ जो प्रामाणिक है उसको छोड़ करके व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाते मन माने ढंग से जीवन जीने लगते हैं उसी का वर्णन पहले था यहाँ पर भी उसी प्रकार बताते हैं जो व्यक्ति जिसका जो कर्तव्य है जैसे इसको रहना चाहिए वो नहीं रहता है तो बस वही अधर्म उसके लिए है अब ये भी सर्वधर्म के लक्षण है परिप्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने ये सब मानसिक विकारों से ग्रसित लोग हैं ये ये सब नहीं समझते कि सब अधर्म के लक्षण जैसा कि इसमें देखते हैं कि सामान्य धर्म और सधर्म दो प्रकार के धर्मों का वर्णन रहता है सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं सत्य है अहिंसा है <clears throat> सदाचार है ये है सामान्य धर्म है ये अपरिग्रह जीवन में स्वच्छता शुद्धता सरलता ये सब जो सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं और विशेष धर्म जो व्यक्ति के हैं सधर्म जो है वो विशेष धर्म उसका है वो अपने वर्णाश्रम के अनुसार उसका धर्म निर्धारित होता है जिस वर्ण का है उसका वही धर्म है जो आश्रम का है उसका वो जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है तो ये दोनों ही प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं कि ये समाज में कहीं भी कोई भी न सामान्य धर्म मानता है और न विशेष धर्म मानता है सब अपने अपने मनमानी करते हैं अब ये जैसे इसमें है जो ये सामान्य धर्म की बात ये है पर प्रिय मैंने अगर में पड़े मैंने धर्म ये है कि ये पर प्रिय लंपट न हो अपने जो हो सदाचारी होकर के रहे अपनी स्त्री है अपना परिवार है उसी में संयमित होकर के रहे ये तो धर्म है अब जो प्रतिगम पर होंगे तो ये अधर्म हो गया उसका उल्टा हो गया ये कपट सयानी कपट करना मैंने छिपाना बात झूठ बात बोलना लोगों को धोखा देना ये सब कपट अधर्म हो गया इसके स्थान में करना चाहिए था सरल भाव है सीधा सीधा स्टेट फॉरवर्ड जैसे कहते हैं कि किसी किसी बात सदाचार से हो सो नहीं घुमा करा करके बातें दंड फंड की बातें करना ये सब जिसमें हुए अधर्म हुए और मोह द्रोह मोह में पड़े आसक्तियों में पड़े हुए हैं द्रोह मन झगड़े साथ में पड़े हुए हैं ममता है आसक्तियां हैं ये सब में पड़ी हुई ये सब अधर्म के लक्षण धर्म में ममता न हो मोह न हो किसी से बैर भाव न हो सबसे प्रेम सब सहनशीलता हो उदारता हो धर्म के लक्षण है और शरीर में धर्म के लक्षण देखने में नहीं रहे उसके उल्टे अधर्म के जो लक्षण है वही संसार में सर्वत्र सबके साथ दिखाई देते हैं कहते थे अवेदवादी ज्ञानी नर और कहते कि ऐसे ये जो लोग हैं कई तो अवेदवादी और ऐसे ही लोग जिनको अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं और वो अभेदवादी अपने आप को कहते हैं अपने आप को ज्ञानी समझते हैं देखा मैं कभी चरित्र कलयुग कल कभी उनका ये कई चरित्र है मैंने देखा मैंने उस समय पे इनको स्मरण है उस कल्प में जब थे तब कभी उठा ही और उस कलियुग में सब यही दशा हो गई थी लोगों को यह भेदवाद क्या है ये ये वेदांत का भेदवाद है वेदांत में जो व्यक्ति आत्मज्ञान में परमात्मा भाव में स्थित हुआ तो सर्वत्र देखता है परमात्मा ही सर्वत्र है सब जगह परमात्मा का ही रूप है और इस परमात्मा का तो और कहीं कुछ नहीं तो परमात्मा भाव के स्तर के ऊपर अभेद जगत नाम रूपात्मक से इसमें भेद प्रतीत होता है भाषित होता है ये मिथ्या है भेद परमात्मा एक खंड तत्व है वही सर्वत्र एक अखंड विद्यमान है उसमें कोई भेद नहीं इसलिए वो अभेद है तो जो अभेद जब जिसको भी आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान होगा उसे दिखाई देगा सारा जगत अपने अंदर सब अपने ही है अपने से दिन कोई नहीं है तो अन्य व्यक्तियों को सबके साथ में अब वो हो ज्ञानी व्यक्ति है तब तक उसका दृष्टि सही होगी जैसा कि अभेदवादी होना चाहिए वैसा होगा लेकिन कलयुग में जब मूल व्यक्ति लोग हैं जिसको अभेदवादी बनेंगे तो कैसे हो गए अब जो परप्रिय लंपट है अब परप्रिय लंपट कहो कि भाई तुम दूसरे की स्त्रियों के साथ में इस प्रकार अरे कहा सब कोई अपने ही है कोई अपना पराया कर रहे है सब अपने कबल से आने दूसरे का पैसा हड़प गए थे तो कहा तो कि दूसरे का पैसा हमारा पैसा तो ये ही है किसी का अलग अलग कोई बता है इसलिए अपने आप को वो है ज्ञान ज्ञान तो कहीं कुछ नहीं ज्ञान के नाम पर अभेदवाद के नाम पर दुराचार भ्रष्टाचार करना ये दशा के लोग तो ज्ञान भी कैसा झूठा ज्ञान भी ऐसा ज्ञान जो अपने आप को भी अधोगत में दे जाने वाला उद्धार करने वाला नहीं मुक्त करने वाला नहीं बल्कि बंधन में डालने वाला है अब देखो इसलिए आप गए और उठा ले या नहीं ऐसे लोग स्वयं अपने आप ही उनका पतन होता है और ऐसे लोग दूसरों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं जैसे जो होते हैं कैसे दूसरों को शिक्षा भी देंगे और उनका भी पतन होगा उनका भी विनाश करने वाले होते हैं जैसे डूब व्यक्ति कोई बचाने जाए हाँ तो डूबने वाला व्यक्ति दूसरे को भी पकड़ करके डूबेगा उसको भी डुबा देगा जब डूबा जैसे हो तो जैसे ये संसार में अपने आप ही अधर्म का आचरण करने वाले पापाचरण में लिप्त स्वयं को इनका पतन हो ही रहा है और दूसरों को भी इसी प्रकार से उसी गड्ढे में डालते हैं ये तुम तो सदमार्ग पर पाले यदि कोई दूसरे लोग सदमार्ग पर चलते हैं तो उनकी हंसी उड़ाते हैं <laughs> उनको कहते हैं अरे क्या की वाले कानून पड़े हुए और उनसे उनको सन्मार्ग से हटा करके उनको भी कुमार्ग में दे जाते और वेदों की शास्त्रों की सबकी निंदा करके उनको उधर की तरफ सन्मार्ग से विचलित कर देते ऐसे लोग तो कहते हैं कल्प कल्प भरी एक नरका ऐसे लोग जो है एक एक कल्प भर एक एक नरक में पड़ते हैं मैंने बहुत काल तक नरक भोगना पड़ता है बराबर दुखी दुख भोगते रहो दुखी दुख भोगते रहो उसका परिणाम ऐसे होता है कल्प कल्प मैंने बहुत दिनों तक और परंग दूषण सुख कर करता जो वैदिक मार्ग को तर्क करके कुतर्कों के द्वारा उसको दूषित करते हैं उन लोगों का परिणाम ये होता है वैदिक मार्ग परम शुद्ध मार्ग सही रास्ता उसके अनुसार जीवन का व्यक्ति का उत्थान हो विकास हो प्राप्त हो सुखी हो व्यक्ति दूसरी ऐसे अच्छे सही रास्ते को उसकी निंदा कर दी उसको भी खराब बता दिया उसने भी दोष बता दिए जैसे की निंदा करने वाले सबसे पहले तो यही निंदा करेंगे जैसे चार बात वगैरह अरे किसने देखा कि स्वर्ग है किसने देखा नरक ये से झूठ मूठ की नरक स्वर्ग की कल्पना कर दी अब वेदों में लिख दी गई जब यह स्वर्ग है एक नरक है ये डराने के लिए लोगों स्वर्ग दिखा करके लोगों को लालच देते हैं सबके मार्ग पर चलो और नरक बता करके उसे डरवाते हैं इसलिए हैं ये वैसे कई नरक है थोड़े तो। अब देखो ये ऐसा है मैंने वेद से भी बड़ा ज्ञान इनका है हम्म, वेद तो बेचारे पीछे रह गए उनका कोई ज्ञान देखिए नहीं उनका तो फिर ज्ञान नहीं उनके सामने ये उनसे भी महान ज्ञानी हो गए बता दिया कि कहीं नहीं स्वर्ग नरक है वैसे ये सब देख रहे हैं पहले सब पता लगाए हुए हैं सर्वे किए हुए हैं सबका सब सारे ब्रह्मांड और सब ऐसे करके बड़े हिम्मत के साथ में इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो कहते ऐसे भी ये बातान लोग ऐसे दंडी लोग इन लोगों का पतन होता है तो कार्य भी नरक में पड़ेंगे दुखी होंगे साथ में ये वर्णाधन पेट तुम्हारा अब कहते हैं देखो ये अब ये स्वधर्म की बात आई अभी सामान्य धर्म की बात बोल रहे थे तो, अब स्वधर्म की बात बोलते हैं सबका अपना अपना धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सबके अपने अपने धर्म है तो अपने अपने धर्म का पालन करें तो, तो स्वधर्म का पालन हुआ और वो धर्म हुआ अब जब धर्म का पालन करते हैं तो फिर वो हो वर्ण संकर्ता हो गई तो वर्ण संकर्ता की बात आगे कहेंगे व्यक्ति है कुछ और आचरण दूसरे प्रकार का करता है तो ये कहते हैं जो वर्णाधम जो अधम वर्ण के हैं मैंने समूह स्वभाव इत्यादि के व्यक्ति हैं तेज भी तुम्हारा कुमार भी इत्यादि है कपच किरात लगा कलवारा कपच चंडाल वगैरह किरात मैंने बंद रहने वाले जंगली लोग संस्कार विहीन किरात कोल कलवार कलवार के मैंने शराब बेचने वाले मादक पदार्थों को बेचने वाले बनाने वाले जो है वो है तलवार कहलाते हैं तो घृणित कार्य करने वाले हैं अगर अधम जाति हैं ये सब अब ऐसे लोगों ने क्या करना शुरू किया कि ये लोग जो है वो हो जो ब्राह्मणों के कार्य हैं तो उन्होंने करना शुरू किया जो क्षत्रियों के कार्य हैं तो यही करना क्योंकि नार मुई से संपत नाशी और कहते हैं कि घर में दस ये स्थिति आ गई कि स्त्री मर गई अब अकेले रह गए और संपत्ति नाश हुई अब तो संपत्ति भी नष्ट हो गई तो न घर में स्त्री है न धन है अब निराश्रित होकर के क्या करें तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा तरीका ये है कि मूड मुड़ाए हुए सन्यासी सब मुड़ा लो सन्यासी होगा अब ये ऐसा भी नहीं कि सन्यासी किसी की दीक्षा ली हो किसी गुरु के पास गए हो किसी ने पूछा हो नाऊ के पास गए तो फिर मोड़ दो क्यों हम सन्यास लेने जा रहे सिर मुड़ गया तो उन्होंने अपने सन्यासी का वस्त्र धारण कर लिए रूप धारण कर लिया तब तो गए सन्यासी अपने मनमानी थी सन्यासी बने सन्यासी बने घूम रहे क्या करते हैं फिर से विपरण समय आप पुजाने और तो विपरों से भी प्रभु अपने आप को पुजवाने लगे जो सदाचारी व्यक्ति है या उच्च कुट के व्यक्ति है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ सन्यासी के स्थान विपरों से भी ज्यादा है और जब विप्र वो सन्यासी बन गए तो विप्र लोग भी ऐसे लोगों की पूजा करें तो कहते हैं कोई विप्रम समय आप पुजाने और उभय लोग हाथ में काम और फिर इससे दूसरे को भी धोखा भले ये दें करें लेकिन अपना भी विनाश करते हैं अपने उभय लोग न सामने मन ये लोग भी उनका नष्ट होता है सब लोग भी नष्ट होता है इस लोक में भी उनकी निंदा होती है और अधोगति प्राप्त होती है उनकी और दूसरे लोक में भी मरने के बाद में भी उनको नरकारी उनको प्राप्त होता है क्योंकि ये संन्यास के पाखंड के लिए थोड़ा है संन्यास कोई व्यक्तियों को जो है धोखा देने के लिए थोड़ा है ये तो अपने उद्धार के लिए हो तो वैराग्य भीतर से रंग वैराग्य है नहीं है लेकिन फिर वो हो सन्यासी बने तो ये जो है अधोगत के लिए जाने वाला तो सन्यासी बन करके आगे बताएंगे क्या सन्यासी होकर के भी क्या करते हैं और हम्म, सन्यासी वैराग्य है नहीं और सन्यास हो गए तो उनकी भी हंसी का काम है और अपने आप ही अपने आप को अधोगत में ले जाने वाले बनते हैं ये तो बता दिया कि देखो वर्णाधन की बात ऐसे हो गई और जो उच्च वर्ण के हैं विप्र उनको क्या हुआ विप्र निरक्षर लोलुप कामी है वो उल्टे हो गए उनको जैसे सूत्रों के जैसे बात हो कैसे उस प्रकार के लक्षण विप्रों के हो गए विप्र निरक्षर निरक्षर में दे पड़े लिखे शास्त्र का ज्ञान किसने शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं उसका ज्ञान भी नहीं शास्त्र का निरक्षर विप्र और लोलुप लोलुप में लालची और खाने को कहीं मिल जाए तो पैसा मिल जाए कहीं खाने को मिल जाए कहीं तो पैसा मिल जाए बस यही जो बातें उनको जो है खाने को मिल जाए और कुछ मीठा खाने को मिल जाए और कोई बढ़िया खाने को मिल जाए बस जीवे जीव उनकी जो वो हो लोलुपता से माने दो प्रकार के हो धन लोलुपता और स्वाद लोलुपता ये विशेष रूप से लोलुप्त के माने लालची जो है लेकिन विशेष रूप से इन दो अर्थों में लागू करते ले लो इन दो अर्थों में करते मित्रों को बस खाने के लिए दे दो उनको और फिर जो चाहो से पहलवा लो जो चाहो से मंत्र पढ़वा लो जो चाहो से पूजा करवा लो जो चाहो ऐसा करवा लो सब करने को तैयार क्यों अरे साहब खाने को मजा दिया उसने करता जो को सब करने को तैयार ऐसे लोग कामी ये भी पानी अलग बात है मुलुक के अंदर नहीं आता पानी के तो मैंने परम जनपद इत्यादि अब पानी कैसे हो गए तो उनको आगे बताते हैं वैसे पानी की निराचार सट ब्रसली स्वामी ब्रसल के मैंने शुद्र ब्रसली के मैंने शुद्र स्त्री उसके स्वामी हो गए मैंने शुद्र स्त्री से विवाह कर ब्राह्मण और कामुकता के कारण से अपने विकार के कारण से उन्होंने जो है वो शुद्र की स्त्री से विवाह शुद्ध की स्त्री रख ली उससे हो गए तो उसके स्वामी बन गए मैंने उसी से शुद्ध विवाह कर लिया उसके पति बन गए ऐसे सख और निराचार ये उनका निराचार है मैंने दुराचरण है उनका और ये उनकी सखता है ऐसे हो गए ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए सख दुराचारी भ्रष्टाचारी चाहे कि ब्राह्मण ब्राह्मण कलियुग में तो ऐसा नहीं कि सुंदर ही बिगड़ गए अरे वो जब ब्राह्मण ही बिगड़ गए तो पहले से वही से शुरू किया देश में देश धर्म देवी वहीं से शुरू किया तो क्या मैंने शुरू शुरू जब कभी का वर्णन मतलब शुरू किया तब ये विष्णु ने क्या किया कि देख देखने लगे उन्होंने क्या किया क्षत्रियों ने क्या किया कि प्रयासन वो प्रजा कर लो प्रजा के भक्षक बन गए जब जब विप्रवी समाज में भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर किसकी शिकायत करो किसको दोष दो मैं जो मार्गदर्शक है जो तो लोग अपनी तपस्या के बल पर अपने ज्ञान के बल पर छपने के ऊपर भी अंतिम रखते रहे राजाओं के ऊपर भी राजा लोग उनसे मित्रों से उनसे डरते रहे वो जो आज्ञा जो जैसे कहे वैसे छपी लोग करते थे तो ये जो मित्रों की तपस्या की इस प्रकार से तपस्या के बल पर इस प्रकार का उनका प्रभाव था शुरू करना तपस्या उनकी रह गई न ज्ञान रह गया न भक्ति रह गई तो कामी हो गए लिलुप्त हो गए तो ये तो सब ही हो गए कौन ऐसी बातों में मानेंगे मजाक हो रहेंगे सब लोग दुनिया में तो इनकी बात तो सुनेगा नहीं कोई इनके बताए हुए मार्ग पर भी चलेगा नहीं तो विपरीत दशा इस प्रकार के खड्डबद्ध हो गए उनकी सारी शक्ति विहीन उनके सीधे हो गए अब उसी के परिणाम ये हुआ कि छत्री लोग भी निरंकुश हो गए वैश्य सिद्धार्थ भी निरंकुश हो गए वो भी अपने मनमानी करने लगे माने धर्म का जो है वो अंकुश जहाँ से था शासन था उसे समाप्त हो गया धर्म का राजा ब्राह्मण धर्म का राजा और राज्य का हाँ देश का राजा क्षत्रिय बस अब ये राजा दोनों के माने ये संरक्षण करें धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण का दायित्व अगर धर्म का खंडन होता है विनष्ट होता है इसमें किसके माने ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे सभी समाज में धर्म नष्ट हुआ है दुआचार भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ है उसके माने ब्राह्मण उसके लिए जिम्मेवार उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दिया अपना दायित्व छोड़ दिया उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी कि धर्म की रक्षा समाज में बनी रहे तो वो नहीं कर पाए और अगर चोर बदमाश के लिए सबके सब देश में फैलते हैं बढ़ते हैं इस प्रकार के और इनको इनके ऊपर अंकुश नहीं लगता है तो राजा उसके लिए हुआ राजा की चाहिए तो इनको सबको पकड़े दंड दे फिर करे इनको जो उपद्रव करने पाए समाज में अब ये दोनों ही अगर आसक्त हो गए अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो फिर समाज के सब तो फिर उसमें उनको समाज होगा समाज में फिर कहीं कोई जो उसका नहीं घोड़ी नहीं रह जाएगी सब अपने आप ही लड़ेंगे झगड़ेंगे मरेंगे बस ये तो कहते हैं शूद्र करेंगे जब तक प्रतिदाना अब देखो ब्राह्मणों ने जब तक प्रदान जिनका की धर्म था उन्होंने छोड़ दिया और शूद्र करने लगे तो कहते शूद्र करेंगे जब तब प्रकृति नाना नाना प्रकार के ये सब करते हैं और वैसे बरासन कहीं पुराना और बरासन पर बैठ करके मैंने जाति के ऊपर बैठ करके पुराने की कथाएं सुनाते हैं हम्म, कहीं पुराना लेकिन ये ये सबके सब जो सुनाते हैं इनका तात्पर्य क्या है कि ये अनधिकार चिंता करते हैं इन्हें तो पुराणों का ज्ञान है नहीं लेकिन सुनाते हैं जब तक इत्यादि इनका लगे है भीतर से इनके उसमें श्रद्धा है नहीं अपने आप को पुजाने के लिए अच्छा कहलाने के लिए भला कहलाने के लिए श्रेष्ठ कहलाने के लिए इस प्रकार का पाखंड करते हैं ये कहते हैं इस प्रकार के इनके इनकी दशा हो कहते सब नर कल्पित करेंगे सारा कहते संसार में सभी लोग कल्पित आचार करते हैं कल्पित माने अपनी अपनी जैसी कल्पना की जैसा मन में आया वैसा अपना व्यवहार करते हैं कल्पित माने मनमानी भूमिका मन में जो आ जाए वो कल्पना होती है शास्त्र कल्पना नहीं है शास्त्र का तो आदेश है निश्चित बात है वो कल्पना नहीं व्यक्ति ने अपने मन से सोच लिया कि यही थी तो वही करने लगा शास्त्र को देखा नहीं तो वो कल्पित आचरण हो गया सब नर कर सब नर कल्पित करें चारा और जाय न वर्ण अनिति अपारा बस कलयुग में बड़ी अनिति अनैतिकता हो गई अपार अनैतिकता हो गई सब स्वेच्छाचारिता हो गई कोई नियम नहीं कहीं कोई सब उनके सीधे काम करने लगे तो उसका परिणाम ये हुआ कि भाई वर्ण शंकर कली कलयुग में वर्ण शंकर हो गए वर्ण शंकर मैंने एक वर्ण का जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का पालन न करके दूसरे वर्ण के कर्तव्य का पालन करता है तो वर्ण शंकर हो गया जैसे समाज में वर्ण संकर सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जाता है कि एक एक वर्ण के व्यक्ति ने दूसरे वर्ण के व्यक्ति की स्त्री से विवाह कर दिया तो जब भिन्न भिन्न वर्णों के व्यक्ति आपस में विवाह करके संतान उत्पन्न होगी तो वो वर्ण संकर होगी ये तो बहुत मोटी बात है जैसे जो शरीर से वर्ण को मानते हैं जन्म से वर्ण को मानते हैं तो उनका वर्ण संकर का भी ऐसा ही लेकिन जहाँ पर के वर्ण जो है वो सत्र तमस के आधार पर हो तो वहाँ पर वर्ण संकटता क्या है कि अगर में प्रधान है तो उसे ब्राह्मण का उसका धर्म है उसे शूद्र का कार्य नहीं करना चाहिए अगर शूद्र का कार्य करने लगा तो वो वर्ण संकट होगा अगर कोई तमुगुणी स्वभाव का व्यक्ति है तो उसे तमुगुणी वाला ही कार्य करना चाहिए सत्यगुणी व्यक्ति का कार्य नहीं करना चाहिए अगर सत्यगुणी व्यक्ति का कार्य करने लगा तो वो भी वर्ण संकट होगा प्रकाश बंसी तो कहें भय परम शंकर कल और भिन्न से सब लोग भिन्न से सब लोग सभी लोग श्वेत भिन्न हो गए श्वेत के माने श्रुति जो है वो धर्म के धर्म के पुल है श्वेत है श्रुति से रक्षक जगदीश माया जानकी भगवान जो है वो श्रुति से रक्षक है श्रुति जो है श्वेत के समान है जैसे संसार सागर है अब सागर से पार कैसे जाए तो सागर से पार जाने के लिए चाहे नाव जहाज हो तो नदी हो और चाहे पुल हो तब हम्म, तो पार जाए तो सब लोग संसार सागर में तो डूब रहे हैं तो पार जाने के उपाय क्या कहा कि ये जो पुल जो ये है वेद जो है ये पुल है सुखिया जो है ये है पुल के समान है पार जाने के लिए संसार सागर के पार होने के लिए तो ये सब दोनों दृष्टान है जैसे कि संसार के समुद्र थोड़ा है लेकिन समुद्र के समान होने के कारण से संसार सागर कहलाता है इसी तरह से पुल नाम की ये कोई पुल कहीं थोड़ा ही है धर्म का पुल ये जो शास्त्री है वेद है उन्हीं के पुल के समान होने के कारण से उनको सिद्धक्षेप कहा जाता है कलयुग में क्या हुआ कि अब ये हर कोई व्यक्ति जो है वो श्रुति को तो सेठ नहीं मानता है लेकिन अपने अपने कल्पित संप्रदाय बना लिए और उन्हीं को सेतु बोलते हैं ये भिन्न सेतु कहलाए शुद्ध सेतु के स्थान पर भिन्न सेतु सब लोग सब भिन्न सेतु के मैंने माना शुद्ध सेतु को छोड़ करके समाज में तमाम न जन पिछले करके संप्रदाय बन गए तो हर संप्रदाय का व्यक्ति कहता है कि संसार सागर से पार होने के लिए हमारा संप्रदाय जो रास्ता बताता है वही असली कुल है उसी से पार हो सकते हैं और बाकी भेद वाले कोई कई युद्ध पुराने हैं टूटा गए अब हमने नया पुल बनवाया है हम्म। इसलिए अब इस पुल से चलो इससे सुरक्षित पार हो जाओ ऐसे संप्रदाय वाले लोग कल्पित कर करके नए नए संप्रदाय निकालते हैं और हर संप्रदाय वाला अपने धर्म को फिर भी तरह से बताता है फिल्में बताते हैं नाव जहाज के लिए बताते हैं नाव बताना है सारे नाव तुम्हारी डूब गई तो फिर क्या होगा उसके हम तुम्हारी नाव सुन जाए तो जहाज हमारे पास है जहाज में जाओ जैसे गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म चला तो गौतम बुद्ध के बाद में फिर दो संप्रदाय उनके हो गए हीनयान और महायान यान के मैंने सवाई जहाज इनयान के मैंने छोटा जहाज महायान के मैंने बड़ा जहाज अब ये सब छोटा जहाज बड़ा जहाज किस लिए सब मुक्ति प्राप्त करने के दोनों साधन तो जहाज जहाज जब चले छोटा जहाज चला बड़ा जहाज चला तो फिर आगे करके लोगों ने कहा जहाज बाज क्या जहाज तो डूब डूब जाते हम पुल बना देते इसलिए पुल से पार हो सकते पुल में कोई खतरा नहीं और आपको कोई डर नहीं ऐसे करके बोलने लगे तब ये अब वैदिक जो श्रुति मार्ग था श्रुति से तो उसको तो लोगों ने छोड़ दिया अपने अपने संप्रदाय की काल्पनिक बातें अपने अपने मानने लगे तो उसी से करने लगे तो भिन्न से तो सब लोग सब लोग भिन्न से हो गए और करें पाप पावन दुख और ये लोग जो है वो पाप परायण रहते हैं और पाप का फल क्या होता है पावन दुख दुखी होते हैं भय रुज शोक वियोग अपने पापों के कारण में भय भी होता है रोग भी लगते हैं शोक भी होता है वियोग भी होता है ये सब का सब उनके पाप का फल ये बात आप बताते रहते हैं कि देखो दुख तो होते हैं लोगों को लेकिन दुख क्यों होता है दुख बाई परिस्थितियों के कारण नहीं होता व्यक्तियों के कारण नहीं होता दुख जो होता है व्यक्ति के अपने पापों के कारण से होता है उसी को यहाँ से बोल दिया याद दिला दिया कि देखो व्यक्ति पापाचरण करते हैं तो ये नहीं समझते हम पाप कर्म कर रहे हैं इसके परिणाम से हमको दुख हो रहा है ये पहले हमने पाप किए होंगे उसका दुख हो रहा है कि अब हम पाप कर रहे हैं तो इसका फल दुख होगा ऐसा नहीं समझते वो समझते हैं कि पाप आपको कुछ होते नहीं हम अपने तो सीधा काम कर रहे हैं इस कार्य को करने से कोई दुख नहीं इससे दुख से इसका कोई संबंध नहीं ऐसे करके अपने समझे रहते हैं दुख आता तो क्यों आता है अरे भाई ये पैसा पास नहीं होता तब दुख होता है हाँ? इसलिए जैसे कैसे करके ईमानदारी बेईमानी से पैसा इकट्ठा करो तो फिर कोई दुख नहीं ऐसे अर्थ लगाते हैं कभी कहते हैं करें पाप पावे दुख और खैर शोक दिए हुए ये सब उनके जो है ये सब पाप का ही परिणाम है कहने के बाद पर दुख भी पाप का परिणाम है भय रहता है जब पाप कर्म करेंगे तो पकड़े जाने के डर होगा माने भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तो पकड़े जाने का डर है छापा पड़ने का डर है जेल जाने का डर है तो वो सब भय रहेगा उनको भय है हृद रोग है शारीरिक रोग भी लगते हैं ताप के कारण से और मानसिक रोग भी लगते हैं शारीरिक रोग से भी ज्यादा भयंकर रोग मानसिक रोग है मन में मानसिक रोग में घबराहट होती रहती है मन में परेशानी होती रहती है व्याकुलता होती रहती है अशांति रहती है ये सब चित्र में क्यों हो रहा है ये सब व्यक्ति के पाप के कारण से तो कहते हैं इस प्रकार के ये रोग भी पाप की उत्पत्ति है तो व्यक्ति का आचरण ऐसा करेगा जो पाप होंगे और उसके परिणाम स्वरूप फल ऐसा निकलेगा उसके भय चिंता पाप ये सब होंगे परिणाम ये होंगे लेकिन मूल बुद्धि के कारण से सत्ता के कारण से उनको सभी कुछ पता नहीं चलता अज्ञान में पड़े हुए लोग जो है वो अंधेरे में भटकते रहते हैं उनको कुछ पता नहीं कि क्या हम कर रहे हैं परिणाम क्या हो रहा है कृष्ण सम्मत हरे भक्ति पथ अब बताते हैं जबकि सही सही रास्ता क्या है ये तो कलयुग में उस प्रकार का विपरीत मार्ग होगा अधर्म हो गया अब धर्म क्या है और श्रुति मार्ग क्या है बताते हैं शुद्ध सम्मत शुद्ध मार्ग ऐसा है कि हर भक्ति पथ भगवान की भक्ति का मार्ग वैदिक मार्ग इसको अपनाना चाहिए और उसमें उसके साथ क्या है संयुक्त विवेक और उसी के साथ विवेक और वैराग्य भी वैराग्य हो विवेक हो भगवान की भक्ति हो यही वैदिक मार्ग त्रयी धर्म कहलाता है देश का त्रयी धर्म त्रयी धर्म मने तीनों देश में वो हो ऋग्वेद ये वेद इन तीनों वेदों में जो कर्म का उपासना और ज्ञान का मार्ग बताया गया ये है यही वैदिक मार्ग जीवन पहले कर्म के द्वारा धर्म का आचरण करते हुए सदाचार के द्वारा चित्त को शुद्ध करे निष्ठान कर्म योग के द्वारा चित्त को शुद्ध करे फिर उपासना करे उपासना के द्वारा फिर और अपने आंतरिक अंतर्मुखी बने अंतरिक विकास करे और फिर उसके बाद आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान बस ये सुखी